किसी तरह से वो झुककर अपना गन उठाने ही जा रहा था कि अचानक से उसे पीछे से कुछ लोगों के आने की आवाज सुनाई पड़ी वो अवाक होकर पीछे की तरफ देखने लगा तभी अचानक से उसके सिर पर किसी चीज से जोर से वार किया गया विक्रांत का सिर घूमने लगा और तुरंत ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा वो कुछ ढंग से देख पाता उससे पहले बेहोश होकर जमीन पर धराशायी हो गया नहीं ये फोन मुझे हेडक्वार्टर से दिया गया है विक्रांत को जब हल्का हल्का होश आया तो उसके कान में ये आवाज सुनाई पड़ी इस फोन में इसकी लोकेशन हमेशा ट्रैक होती रहती है और हेडक्वार्टर से तुरंत इस फोन के सहारे इसकी लोकेशन उन्हें पता चल जाएगी मेरी मानो तो जल्द से जल्द इसे यहाँ से हटा दो वरना सब पकड़े जाएंगे हम्म, अचानक से विक्रांत ने एक औरत की आवाज सुनी इसका कुछ तो करना पड़ेगा वैसे भी ये सुपर आठ वालों से पंगा लिया है उसने विक्रांत को अब हल्का हल्का होश आ रहा था उसे इतना तक याद था कि वहां गली में पुलिस वाले से लड़ते वक्त विक्रांत अपने हाथ में बंदूक उठाने जा रहा था तभी उसके सिर पर किसी ने मार दिया था और फिर वो बेहोश हो गया था हालांकि उसने गोली से बचने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट ऑन कर रखा था लेकिन ये जैकेट उसे किसी और चीज के वार से नहीं बचा सकती विक्रांत ने धीरे धीरे अपनी आंख खोलते हुए यहाँ का नजारा देखने की कोशिश की उसने देखा कि वो जमीन पर पड़ा हुआ है और उसका हाथ पीछे करके रस्सी से बंधा हुआ था यहाँ पर कुल सात लोग खड़े थे जिसमें से तीन तो पुलिस वाले थे जो कि डॉक्टर संजय की बनाई हुई स्पेशल टीम में काम कर रहे थे बाकी बचे चार लोगों ने एक खास तरह की वर्दी पहन रखी थी ये वही वर्दी थी जो रॉ एजेंट रंजीत मेहरा ने पहन रखी थी विक्रांत को अब थोड़ा क्लियर हो रहा था कि ये लोग सुपर एट टीम के मेंबर्स हैं ये सभी रंजीत कालरा के साथ काम करते थे ये लोग पहले रॉ के एजेंट रह चुके हैं लेकिन अब शायद किसी अंडरवर्ल्ड के आदमी के लिए काम करते हैं और इन्हें उसी आदमी ने अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए भेजा है लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य तो विक्रांत को इस बात का हो रहा था कि city bureau chief doctor Sanjay की टीम वाले भी शायद इन लोगों के साथ मिले हुए थे अब बस डर इस बात का था कि कहीं खुद डॉक्टर संजय भी ना इसमें इन्वॉल्व हो वरना बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी विक्रांत इस वक्त जमीन पर यूं ही पड़ा हुआ था कि उसका मुंह जमीन से सटा हुआ था बाकी पैर और पूरा शरीर खुला हुआ था बस हाथ को इन लोगों ने बांध रखा था ऐसा लग रहा था कि उसे ज्यादा सेफ्टी से नहीं रखा गया था यानी कि इन लोगों को इस बात का फुल कॉन्फिडेंस था कि विक्रांत यहाँ से भाग नहीं सकता है ऐसा कॉन्फिडेंस सिर्फ रॉ वाले ही रखते हैं आप लोगों को थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है पुलिस वाले ने वहां खड़े एजेंट से कहा वो पहले वाली लेडी पुलिस की तरह लापरवाही से काम मत कीजिए आपको पता ही है कि आपके बॉस भी इसमें इन्वॉल्व हैं सो प्लीज सोच समझ कर काम कीजिए तुम हमें मत बताओ कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं वहां खड़ी लेडी एजेंट ने कहा इस कमीने की वजह से हमारे एक साथी ने सुसाइड कर लिया इसको तो हम तड़पा कर मारेंगे ऐसे आराम से नहीं मरने देंगे अरे नहीं आप लोग समझ नहीं रहे पुलिस वाले ने बोलना शुरू किया ये कोई मामूली पुलिस वाला नहीं है ये सारा पूरे मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट में फेमस है डिटेक्टिव विक्रांत के नाम से जानते हैं इसको सभी बहुत बड़े बड़े केस सॉल्व किए हैं इसने बहुत पहुंचा हुआ जासूस है ये मेरी मानो तो बस इससे पूछताछ करके इसे छोड़ दो आप लोग खुद देखिए इस कमीने की वजह से जब आपके सीनियर ने अपनी जान दे दी तो सोचिए कितना खतरनाक आदमी आप लोग बस इससे इतना पूछिए कि इससे क्या क्या पता है और जल्दी पूछिए टाइम नहीं है अरे वो देखिए शायद वो होश में आ गया होगा इसे विक्रांत अब हिलते डुलते हुए उठने की कोशिश करने लगा था अब सब लोग बड़े ध्यान से उसकी तरफ देखने लगे हम्म गुड गुड वहां खड़ी लेडी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी उसने पुलिस वाले की तरफ देखते हुए कहा बस अब तुम्हारा काम खत्म निकलो यहाँ से हमें जो करना है हम कर लेंगे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है जैसे उस औरत ने कहा उसके साथ बाकी के दो लोग विक्रांत की तरफ बढ़ने लगे वहाँ पर एक और आदमी मौजूद था जो थोड़ी दूरी पर बैठा था कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था ऐसा लग रहा था कि मानो उसे यहाँ की घटना से कोई मतलब ही नहीं था वो बड़ी शिद्दत से कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां पटकते हुए काम कर रहा था बाकी के जो तीन लोग विक्रांत की तरफ बढ़ रहे थे इस सब के सब रॉक एजेंट थे सभी ने प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन रखा था और अपने कमर में बंदूक भी खोस रखी थी ना जाने क्यों विक्रांत को ऐसा फील हो रहा था कि ये साले आज उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाले सबके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ नजर आ रही थी मानो ये लोग अपने साथी रणजीत मेहरा की मौत का बदला आज लेकर ही मानेंगे इस साले की ऐसी की तैसी वो पुलिस वाला भी कुर्सी खींचकर विक्रांत के बगल में बैठ गया यह डॉक्टर संजय की टीम का आदमी था इसका नाम था रमन कुर्सी पर बैठते ही उसने विक्रांत को घूरते हुए कहा खत्म करो साले को जल्दी से जल्दी मार के ही दफन कर दो इसको किसी को कुछ पता नहीं चलेगा इसके बारे में अब इसका हिसाब तो हो जाएगा तभी मैं यहाँ से जाऊंगा विक्रांत चारों तरफ नजर डालते हुए यहाँ का माहौल समझने की कोशिश कर रहा था ये कोई बड़ा सा वेयर हाउस सा एरिया था ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर पहले कोई बॉयलर हुआ करता था पूरे हॉल एरिया के साइड में यहाँ से बाहर निकलने का एग्जिट डोर था लेकिन वो डोर सीधे बाहर नहीं खुल रहा था बल्कि वो रास्ता किसी गैरेज से होकर जा रहा था क्योंकि तो विक्रांत को यहीं से वहाँ खड़ी कुछ पुरानी और टूटी हुई गाड़ियां नजर आ रही थी दरवाजे के एक साइड में एक छोटा सा कमरा टाइप का था जिसमें काफी सारे कंप्यूटर के सिस्टम लगे हुए थे ये एरिया इन लोगों का ऑफिस था ऐसा लग रहा था कि यहाँ से ही ये लोग अपने काम को प्रॉपर तरीके से अंजाम देने की प्लानिंग करते हैं विक्रांत को एक बात ये समझ में आ रही थी कि यहाँ से बचकर भागना बहुत मुश्किल है क्योंकि तो पहली बात तो ये एरिया ऐसा है कि यहाँ के बारे में विक्रांत को ज्यादा कुछ पता नहीं है और ऊपर से उसका हाथ भी बंधा हुआ है और सबसे बड़ी बात ये साले रॉक एजेंट है इनके आगे तो हाथ खुले रहने पर टिकना मुश्किल है आत्मदेह होने पर इनसे भिड़ने की सोचना भी पाप है यहाँ तक कि इस वक्त विक्रांत के पास अदृश्य शक्ति का जो टूल था उसकी मदद से भी वो बड़ी मुश्किल से यहाँ से बाहर निकल पाएगा उसने पहले ही अपने बुलेट प्रूफ जैकेट को ऑन कर रखा था इसका भी आधा घंटा खत्म हो चुका था अब विक्रांत के पास जो बुलेट प्रूफ जैकेट है वो मात्र अगले तीस मिनट तक उसका साथ देगा विक्रांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे और क्या तरीका आजमा कर यहाँ से बचकर जाया जा सकता है वो काफी सोच में पड़ा हुआ था ये लोग विक्रांत को मारना तो चाहते थे लेकिन अभी उन्हें इस बात का डर था कि कहीं इसके और भी साथी यहाँ आसपास ना हो और दूसरी बात ये लोग इतनी जल्दी विक्रांत को नहीं मारने वाले थे ये अपना पूरा रिवेंज लेने के मूड में थे अपने सीनियर साथी रंजीत मेहरा की मौत का बदला ये लोग यूं आसानी से विक्रांत को मारकर नहीं लेंगे तभी वहाँ जो आदमी कंप्यूटर पर यूज कर रहा था उसने अचानक से चिल्लाते हुए कहा प्रीति मैडम मैंने चेक कर लिया है ये इसका फोन कहीं से ट्रेस नहीं हो रहा है किसी को इसके लोकेशन का पता नहीं है कोई नहीं ढूंढ पाएगा हमें वाह क्या बात है कुर्सी पर बैठे बैठे रमन बोल पड़ा अब तो फटाफट इसको मार के यहीं गाड़ दो किसी को खबर नहीं होगी हाँ दो रॉ के एजेंट विक्रांत की तरफ बढ़ने लगे ये लोग तुरंत ही विक्रांत को ठिकाने लगाने के मूड में नजर आ रहे थे ये लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक से विक्रांत उठ खड़ा हो गया एक मिनट एक मिनट आप लोग ऐसे मुझे नहीं मार सकते पहले मेरी बात तो सुनिए क्या जैसे विक्रांत ने ये बात कही तुरंत ही वो लेडी एजेंट उसके पास आकर बोली ज्यादा होशियारी नहीं साले तुझे पता नहीं तूने किससे पंगा ले लिया है अब ऊपर जाकर अपनी गलती की माफी मांगते रहना कब से हम तुझे ढूंढ रहे थे लेकिन हमारी भी किस्मत कितनी अच्छी है ना तू खुद ही चलकर हमारे पास आ गया ठीक है मुझे मार लो पर एक बात मेरी तो सुन लो विक्रांत ने उसकी तरफ देखते वक्त अच्छा क्या क्या आप लोगों के यहाँ कोई वैकेंसी है मतलब आप लोगों के यहाँ मुझे नौकरी मिल सकती है रॉ वालों को क्या सैलरी मिलती है और सुविधा क्या क्या है कुछ बताएंगी हाँ हाँ हाँ बाकी के सारे तो शांत बैठे रहे लेकिन पुलिस ऑफिसर रमन जोर से हंस पड़ा हंसते हंसते ही उसने एक सिगरेट निकाली और इसे जलाकर पीने लगा साले मजाक सूझ रहा है तुझे हाँ मजाक सूझ रहा है एक रॉ एजेंट ने झपक कर अपनी गन बाहर निकाली और उसे विक्रांत के माथे पर टिकाते हुए बोला अच्छा अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा अच्छा चलो ठीक है तुम लोग मुझे मार तो रहे ही हो कम से कम मुझे मुझे तो बता दो कि मैं मर क्यों रहा हूँ ऐसे बिना रीजन जाने मरना थोड़ा अजीब सा लगता है ना पता तो चले मैं क्या मरा क्यों विक्रांत ने प्रीति की तरफ देखते हुए कहा और हाँ वो तुम लोगों ने टीम लीडर मंजू सचदेवा के साथ क्या किया ये भी बता दो तभी मेरी आत्मा को शांति मिली सारा इतने दिन से सस्पेंस में जी रहा हूँ विक्रांत की बात सुनकर सभी रॉ एजेंट एक दूसरे की तरफ देखने लगे किसी को मानो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था अच्छा तो तुझे जानना है ना प्रीति ने आगे बढ़ते हुए कहा चल मरने से पहले तेरी आखिरी इच्छा भी पूरी कर देते हैं